ईश्वर का बारे में चिंतन चल रहा था वह नित्य मुक्त है और सदैव सर्वेश्वर संपन्न है जैसा प्रकृति लीन पुरुषों में उत्तर काल में बंधन की संभावना है और अन्य पुरुष लोग तो पूर्व काल से तो चले आ ही रहे हैं बंधन में उस प्रकार से उस ईश्वर पूर्वोत्तर काल में कभी भी न भूत में न भावी में बंधन की संभावना है मुक्त लोग पहले बंधन में थे त्रिप्रकार का बंधन को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त किए मुक्ति को प्राप्त किए और जो प्रकृत लय वाले हैं विदेह वाले इत्यादि उन लोगों को भविष्य अवश्य ही संभावना है जन्म आदि की प्राप्ति का तो भूत और भावी ये सब होते हैं यानी ईश्वर न भूतो न भावी जन्म आदि को प्राप्त किया हुआ है जो तो सदैव नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वो परमात्मा है ये सिद्ध हुआ और भी तरीके से कर रहे हैं उस ईश्वर की यो जो प्रकट सत्योपादान ईश्वर से शाश्वत उत्कर्ष सत्यम सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्त अब दूसरी तरीके से ऐश्वर्य को लेकर मतलब जन्म को लेकर के हुआ अब ऐश्वर्य को लेकर विचार कर रहे हैं वो जो नित्य ईश्वर है जिसका सत्व अत्यंत प्रकृष्ट है उसकी जो ज्ञान निर्दिशय ज्ञान इसलिए सर्वज्ञ वह जो स्थिति आई है उसके जो स्थिति उसके है उसे निमित्त क्या है मैंने कारण किस कारण पर किस युक्ति से आप कर रहे हैं ईश्वर का ज्ञान निर्देश है उसके समान कोई नहीं उससे अधिक तो सवाल नहीं ऐसे क्यों प्रश्न प्रकृष्ट सत्य उपादाना प्रकृत स्पष्ट सत्व ने ज्ञान को ग्रहण किए हुए होने से ईश्वर के अंदर शाश्वत जो उत्कर्ष है स किम निमित्त किम वह क्या सनिमित्त है और सकारणक है अथवा निर्मित निष्कारण स्वभाव चेत तस् शास्त्र में निमित्ता प्रकृष्ट बुद्धि प्रकृष्ट ज्ञान रूपा सत्व का उपादान का कारण जो है शास्त्र उत्कर्ष माना गया और वो शाश्वतिक उत्कर्ष का भी हेतु क्या है कद शास्त्र में प्रमाणम तो क्या प्रमाण है क्या कारण है कारण से तब यहाँ प्रमाण किस कारण को देकर किस हेतु के आधार पर या किस प्रमाण के आधार पर आप इस बात को सिद्ध करते हो तो कहिए शास्त्र में प्रमाणम शास्त्र में निमित्तम शास्त्र में कारणम इसी को वहां ब्रह्म सूत्र में दिया शास्त्र योनित्वा तीसरा सूत्र शास्त्र योनित्वा है ना जन्मादेश शास्त्र योनित्वा शास्त्र योनिर्यस्य अथवा शास्त्र योनि शास्त्र दोनों अर्थ क्या वहां पर शास्त्रीय है योनि में कारण मैंने प्रमाण जिसका ऐसा ईश्वर तत्व होता है शास्त्र कोई दूसरे प्रमाण नहीं उसके अगर शास्त्र का भी प्रकाशन का कारण उसका भी योनि है मैंने कारण है प्रकाशन का कारण शास्त्र आए कहां से हमारे पास उसे परमात्मा ने ही दिया दोनों तरीके से शास्त्र ही इस ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण हो सकता है और अनेक अनुमान आकर न्यायिक आदि सिद्ध किया ही धृति आदि ने हेतु दिया उन्होंने सबसे पहले कर दिया आदिगम सकर्तृगम कार्य छित्यम करार किसे हैं वो सकर्तृत है कार्य होने के नाते घटवत इत्यादि से अनुमान करते हैं नौ प्रमुख हेतुओं के द्वारा निश्चित किया कि भाई इस जगत का कोई न कोई ऐसा हम और आप से विलक्षण ऐसे वे चेतन जिसकी ज्ञान की पराकाष्ठा है साकाष्ठा सा परागति ही जो कहा गया और वैसा कोई न कोई दूसरा तत्व जरूर होगा उस तत्व का ही नाम ईश्वर ये सिद्ध किया नहीं आयो का जो नहीं तो इसलिए यहाँ पर कहते शास्त्र में वह निमित्त में प्रमाण शास्त्र पुनः किन निमित्त प्रश्न आया ना शास्त्र कहा से आया ईश्वर प्रमाण अन्यों ने ऐसे दोष हो जाएगा यहाँ प्रकृष्ट सत्व निमित्ता प्रकृष्ट सत्व से शास्त्र आया और शास्त्र से प्रकृष्ट सत्व से धो रहा है तो अन्योन्य दोष हो गया कि शास्त्र का प्रमाण से ईश्वर सिद्ध हुआ ईश्वर ने कहा है शास्त्रों को इसलिए शास्त्र प्रमाणिक हो गए है ना अनिश्वर उसका साफ है यहाँ पर शास्त्र बोल रहे हैं इसलिए हम ईश्वर को मान रहे हैं और शास्त्र को हम क्यों मान रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने बोला हुआ है ईश्वर ने दिया है इसलिए ईश्वर प्रोक्तत्व छात्र प्रमाणम शास्त्र शास्त्र प्रोक्तत्व ईश्वर प्रमाणम अन्योन्याश्रय दोष होता है उस दोष को निवारण करिए तो हो शास्त्रोत्कर्ष योर ईश्वर सत्व वर्तमान यो हो ये दोनों के दोनों शास्त्र का और उत्कर्ष का शास्त्र उत्कर्ष में प्रकृति सत्व का जो उत्कर्ष आपने माना शाश्वतिक उत्कर्ष है जो क्योंकि आप लोग हम लोगों के बीच में भी सत्वोत्कर्ष वाले होते हैं लेकिन शाश्वतिक सत्वोत्कर्ष नहीं जैसे विश्वामित्र आदि थे हाँ, सब उत्कर्ष वाले थे नहीं वो शाश्वत टिका क्या वाई में इनका ठप हो गया मामला हाँ? यहाँ भी ऐसे ही होता है ना आज भी होते ही रहता है रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई खबर सुनने चाहो तो मिलते ही रहेगा है हाँ, बड़े महात्मा सिद्ध है बड़ी तपस्या कर रहे हैं सब तो उत्कर्ष तो था ही आम आदमी की अपेक्षा से संतोष तो है ही साधु में लेकिन वो सत्योत्कर्ष कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाता है, है? इसे शाश्वतिक नहीं है ना लेकिन जो शाश्वतिक सत्व कर्ष है और शास्त्र है इन दोनों के बीच में आप अन्य दोष दे रहे हो ईश्वर सत्र सत्य वर्तमान यो हो ईश्वर का सत्य में ईश्वर की सिद्धि में यही तो जो कारण है इनको हमें क्या मानना पड़ेगा अनादि संबंध अंडा पहले कि मुर्गी पहले बीज पहले कि अंकुर पहले जैसे बीजांकुर में अन्य दोष होने के बावजूद आप अनादित्व देख करके करार देकर कहते कि वे अनादित्वात दोष इसलिए हम इसे भी अनादि मानना ही पड़ेगा शास्त्रोत्कर्षों का ईश्वर सत्व स्थिति में जो मान लिया गया है ऐसे दोनों तत्व परस्पर में अन्योन्याश्रम दोषग्रस्त नहीं है क्योंकि दोनों ही अनाथ एदस्मात भवती सदा एवं ईश्वर सदैव भक्ति दी इसी हेतु से वह अनादि हो गए हैं दोनों के दोनों एक तस्मादि हेतु हो इन्हीं अनादित रूपी हेतु के लेकर के एक बात सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर सदा मुक्त पुरुष है लेकिन इस शास्त्र के आधार पर भी मानने के पीछे में हेतु तो, तो शास्त्र ने क्या हेतु दिया है शास्त्र ने कहा है ईश्वर क्यों साथ ने ईश्वर को माना भी है तो उसको हेतु तो दिया होगा क्या हेतु दिया इस शास्त्र ने कर शास्त्र तो अनेक को हेतु दिया है एक दो नहीं अनेक हेतु दिया है बाद में पुराणों के श्लोकों को लेते हैं पहले भाष्य को देख लीजिए तत्त ऐश्वर्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम पहला हेतु है ऐश्वर्य से विनिर्मुक्त अयम आत्मा ईश्वरों भवित मरती क्योंकि जो भी आत्मा है ज्ञानवान आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो ज्ञानी आत्मा ही ईश्वर क्यों क्योंकि उसके साम्य अथ उसका अधिकता उससे भी अधिक ऐश्वर्य वाला ज्ञान वाला शक्ति वाला सामर्थ्य वाला कोई दूसरा साम्यातिशय विनिर्मुक्त हेतु है विनिर्मुक्तम न तावत ऐश्वर्यांतरेण तदतिशय सबसे बड़ा ऐश्वर्य को लिया ऐश्वर्यांतर के द्वारा वह अतिशय को प्राप्त हो गया हो ऐसा नहीं होता ऐसा कोई दूसरा ऐश्वर्य नहीं है जो ईश्वरी का ऐश्वर्य को अतिक्रमण करता उससे बढ़ चढ़ कर हो ऐसा कोई दूसरा ऐश्वर्य नहीं यदेव अतिशयी सदेव तत् इसे संसार में जो सर्वातिशय वाला है ऐश्वर्य वही उस ईश्वर का ऐश्वर्य है तस्मात यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्य जिसमें ऐश्वर्य की पराकाष्ठा आप दिख रहे हो उसी को ईश्वर समझना न चत समान ऐश्वर्मति चला उससे अधिक कोई नहीं है तो, तो कोई दूसरा होगा तो उसके बराबर वाला तो होगा कोई तो नहीं बराबर ऐश्वर्य वाला भी कोई दूसरा नहीं है न समानम ऐश्वर्य उसके समान ऐश्वर्य वाला कोई दूसरा नहीं है इसे अतिशय से विनिर्मुक्ति है और साम्यत्व से भी विनिर्मुक्ति है अकस्मात क्यों तो तो क्या है क्यों नहीं मानते बराबर कोई दूसरे को कहते हैं कारण यह है द्वयो तो हो तुल्य और एकस्मिन युगपत कामित अर्थे कामित अर्थे नवम इदमस्तु प्राणम इदमस्तु एक सिद्ध हो इतर से प्राकाम्य विघाता क्योंकि आप दो समान वाले को नहीं मान पाओ समान ऐश्वर्य वाले के मान लीजिए दो व्यक्ति समान ऐश्वर्य वाले हैं एक ने कहा ये जो है नया वस्तु हो गए दूसरे का नहीं ये पुराना हो गए फिर क्या हो गया एक की प्राकाम्य सिद्धि प्राकाम्य सिद्ध कहते अवहित इच्छा अभावित इच्छा जो होता है वो प्राकाम्य सिद्धि बोलते हैं वो प्राकाम्य सिद्धि का विकास हुआ कि नहीं हुआ एक ने बोले जिंदा रहेगा दूसरा बोले नहीं जिंदा नहीं रहेगा क्या करेगा मरेगा ये जो जिंदा नहीं रहेगा बोलने वाला महानेश्वरी वाला है तो वो मरेगा और रहे ऐसा बोलने वाला महानेश्वरी वाला तो जिंदा रह जाएगा दूसरा व्यक्ति झूठा हो जाएगा दो में एक तो निश्चित रूप में झूठा हो जाएगा यही हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच में द्वारिका में कृष्ण के सामने अर्जुन अपने आप को मानता है मेरे है जी संसार में कोई अन्याय नहीं हो सकता जो ब्राह्मण आया ना वहां पे मेरे सारे बच्चे मर गए तब मतलब अर्जुन कहता है चिंता मत करो मैं हूँ यहाँ द्वारिका नगरी में अरे कृष्ण क्या करेगा इसके दरबार में ऐसे ही हुआ करता है मैं आ गया हूं ना यहाँ तुम घबराता क्यों है चलो अगले के लिए प्रयास कर फैक्ट्री चलाओ <laughs> प्रयास किया उसने बेचारे नहीं बेचारा वो भी उसने पहाड़ों का पिता ऐसे मकान बना दिया पहाड़ों से कि बस हवा भी न घुस और अंदर में सब कुछ ठीक ठाक ऐसे विचित्र बना दिया बाणों से लेकिन तब भी बच्चा मर गया तब उसको अकल आया फिर बहुत परेशान हुआ तो कहे कि अब अर्जुन ने ऑर्डर दिया कृष्ण को चल सारथी चला चल सारथी तो सारथी है ना चला रथ ढूंढते कहा है वो बच्चा कौन ले गए यहाँ से सब लोग भटक गए कहीं नहीं थक गए तब अर्जुन से बोले अर्जुन बोलता कि सर भगवान पता नहीं क्या है क्यों ऐसे क्यों हुआ कहा छिप गया बच्चा आप बताओ तो चल मेरे साथ तब तो महाराजा के पास ले गए सीधे कहानी कहने का तो मतलब दो बराबर वाला भी नहीं हो सकता है बढ़ करके भी नहीं हो सकता है बराबर वाला भी नहीं हो सकता कि वहां यही चाहते थे भगवान इसके अहंकार को तोड़ने के लिए जो करेगा उसका विफल हो उनकी संकल्प है और अर्जुन का संकल्प जो मैं करूँ सफल हो और कौन संकल्प से जवाब दे अर्जुन का संकल्प तो विफल हो ही गया इसका मतलब कृष्ण के बराबर भी अर्जुन नहीं है फिर से बढ़ करके भी नहीं हो सकता है इसीलिए कहते साम्य भी नहीं अतिशय भी नहीं नहीं तो यदि साम्य हो जाएगा तो भी प्राकाम्य सिद्धि का विघात होगा ये दो बराबर वाले को गड़बड़ी होगी इसे तो अनेक आत्मवाद में खंडन हुआ ना कि भाई यदि मान लो इंद्रिया भी आत्मा मान लोगे तो इसमें ये सबसे बड़ा दोष दिया एक इंद्रिय कहेगा चलो दूसरा इंद्रिय कहेगा मत चलो तो क्या होगा एक पैर बोलेगा कि डाना चलो दो दूसरा पैर बोले बाया चलो तो फटी जाएगा शरीर है दोनों पैर अलग अलग आत्मा थोड़े होंगे इसलिए प्रत्येक अवय को आत्मा मानने में ये सब दोषों को दिया गया है क्योंकि समान गुण वाले समान सामर्थ्य वाले समान ऐश्वर्य वाले दो वस्तु कभी नहीं हो सकते न्यून जरूर है इसे कहते कि देखो युगपत कामित दो है मान लीजिए तुल्यो हो तुल्यो हो युगपत कामित अर्थ युगपत एक अर्थ काम एक ही वस्तु के विषय में कामना विरुद्ध में किया एक ने बोला नवम विधम अस्तु दूसरे ने कहा प्राण विधम अस्तु अब क्या होगा यदि एक सिद्ध इन दोनों के संकल्प से एक के संकल्प सिद्धि हुई तो एक मानना पड़ेगा आपको इतर से प्राथम विघातात दूसरे की जो इच्छा अविघात इच्छा की स्थिति जो थी वो विघात हो गया नष्ट हो गया तो तुम प्रसम स्वतः ही दूसरा न्यून ऐश्वरी वाला है कामितार्थ प्राप्त नास्ती अर्थ प्राप्त क्योंकि दो तुल्य पुरुष हो तुल्य सामर्थ्य वाले हो वो युगपत एक काल अवच्छेद न कामितार्थ प्राप्ति कर ले कभी हो नहीं सकता क्योंकि अर्थ तस्मात यश साम्यात शिव निर्मुक्तम ऐश्वर्य स ईश्वर सच पुरुष विशेषति इसलिए जिसके अंदर साम्य भी और अतिशय दोनों से निर्मुक्त ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य विद्यमान है उसी का नाम ईश्वर है वह एक पुरुष विशेष है ये माननी चाहिए इस संदर्भों में पुराण के भी वायु पुराणे गरुड़ पुराणे अनेक पुराणों में विभिन्न प्रकार के लक्षण भी दिया हुआ है वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे एक का लक्षण बता रहा है पुरुष शब्द नहीं व क्लेशादिहित मुक्तम निर्गुणत्म कि पुरुष शब्द के द्वारा ही क्लेशादि रहित निर्गुणत्व कथन कर दिया पुरुष का मतलब भी वो निर्गुण शब्द का ही रूढ़ व्यवहार हो गया शास्त्रों में असंगो जयम पुरुष वेद में आ गया प्रधारण परिषद में वह पुरुष शब्द एक तरह से शास्त्र ने में रूढ़ कर दिया है निर्गुण निराकार तो फिर ये प्रसंग कहा से क्लेश कर विपाक अपरामृष्ट पुरुष है कोई परामृष्ट पुरुष भी होगा इसका मतलब आप इतर भी आवर्तन कर रहे हैं इसका मतलब है पुरुष ऐसे भी होंगे जो क्लेश कर विपाक आश्रम से संबद्ध होगा ये तो परस्पृद बात है कि पुरुष शब्द सुत ही रूढ़ है निर्गुण निराकार में और जिसमें कोई चीज का संबंध है नहीं और दूसरा संबंध मान भी रहे और संबंध मान कर उससे भिन्न ईश्वर की सिद्धि कर यदि संबद्ध कोई पुरुष होता ही नहीं तो पुरुष विशेष ईश्वर कार्य की जरूरत क्या आप पुरुष विशेष ईश्वर इसलिए कह रहे हैं कि ये पुरुष सामान्य संबद्ध होते हैं क्लेश कर्म आदि उनसे अर्थात पुरुष कुछ ऐसे भी हैं जो संबद्ध होते हैं और एकाध ऐसा है जो असंबद्ध यह व्यवस्था शास्त्र विरुद्ध है पूर्व पक्ष की आशंका उसके जवाब में कहा गया ये नहीं हो सकता इसीलिए यहाँ पर इतने हेतु जो दो हेतुओं से साबित किया इन्होंने न उसके समान न उससे बढ़कर ऐश्वरी है न भूत और भाव में उसका जन्म ही हुआ न हुआ है न होगा ये दो हेतुओं को लेकर के जो इतनी बात सिद्ध करने का कारण क्या है उस कारण यह है कि परमात्मा में वो आशंका हो सकती है ईश्वर में जब वह ईश्वर निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल है इसमें उसमें न ज्ञान है न कोई शक्ति आशंका करने वाले भी आशंका कर सकता है ना वो सिर्फ ज्ञान भी नहीं है शक्ति भी नहीं लेकिन हमें सिद्ध करना है उसके अंदर ज्ञान भी है शक्ति ज्ञान क्रिया शक्तिमान होता है लेकिन उसकी ज्ञान और उसकी क्रिया निर्दिश है इतना ही अंतर ईश्वर आदर्श वेदांत का ब्रह्म है वो नहीं लेना है ना या इनका ईश्वर वो है जो संसार का निमित्त रूपा है और सिर्फ ज्ञान भी है जीवन का सब ज्ञान है किसको कब जन्म देना किसको कब दुख देना किसको सुख देना आप ही के कर्मों का पूरा उनके पास हिसाब किताब है उसी हिसाब से आपको सब फल देने वाला है वो अर्थात ज्ञान की उसकी पराकाष्ठा है और दूसरा क्रिया में सृष्टि स्थिति लय करने की क्षमता उसके पास ऐश्वर्य या इस पहला सूत्र में ऐश्वर्य मात्र सामान्य रूप में सिद्ध कर रहे हैं अगले सूत्र आएगा तो ज्ञान की पराकाष्ठा सिद्ध यह ऐश्वर्य का मतलब क्रियाकृत सामर्थ्य आपके पास आपके अपने दिमाग में कितने लोगों के हिसाब किताब रखोगे आप पांडव का आश्रम का आपको जो महत्व बना दिया जाए आप कितने लोगों के हिसाब किताब रखोगे भूल जाते हो किसको कितना एडवांस दिया है किसको कितना नहीं दिया किसको तंखा कितनी है किसको कितनी छुट्टी दी गई है नहीं दी गई सारी दिमाग में रहता है ये सब कुछ दिमाग में रहने लग जाते पोथियों की जरूरत क्या अकाउंट्स मेंटेन करने अब आगे लिखने वालों की भी कमी होगी इसलिए कंप्यूटर आ गया वो सब याद अच्छी याद रखते यदि पोथी में गड़बड़ा सकते हैं लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाता है अभी तो हार्ड डिस्क ही फायर हो गया खत्म सारा चौपट हो जाता है यहाँ तो एक आध पन्ना कोई फाड़ के ले जाता है तो वहां तो पूरा ही गायब हो जब होता है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आधार बना के रखते हो क्यों आपको सारी चीजों की बात दिमाग में रहनी चाहिए दस बीस लोग नौकर चाह करके हिसाब किताब दिमाग में नहीं रख सकते अपने खर्चा पानी का हिसाब किताब दिमाग में नहीं रख सकते तो सारे संसार के समस्त जीवों ने कितने झूठ बोला किसने कितने सच बोला किसने किसने कितनी बार विधिवत लघुशंका की किसने विधिवत लघुशंका नहीं की सब हिसाब किताब कौन रखे तो रखने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा जो उसके आधार पर अवकर्म फल भोग भुगता रहा इसे ज्ञान की पराकाष्ठा माननी ही पड़ेगी क्रिया की पराकाष्ठा माननी पड़ती ईश्वर या इसलिए पुरुष में शब्दों में जबकि पुरुष सभी के लिए सामान्य प्रयोग भले हो जाता हो तो ईश्वर के लिए विशेष है यह बात करने के लिए सूत्र में इन्होंने कहा प्रश्न पुरुष विशेष ईश्वर अच्छा और लेकिन विचित्रता यह भी है समझो नटवत है यहाँ पर ईश्वर नट के समान व्यवहार सब कुछ जानते हुए भी न जानते हुए जैसे रहता है किसे संबंध ही नहीं होता आपने बहुत भक्ति कर लिया तो भले नरसिंह अवतार हुआ और नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद को गोद में चाट रहा है ऐसे दिखाई देता व्यवहार शास्त्रों वर्णन नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर भक्तों के प्रति बड़ा विशेष प्यार है और दूसरों के प्रति द्वेष राग द्वेष का दोष वहां नहीं आता फिर दूसरा भी कौन है आखिरी एक कौन गोश्याम हो रखा है तो वही तो असुर भी बना है वही देवता भी बना है वही भक्त भी है वही सब कुछ बना लेकिन समस्या ये होता है जो आपको दे दिया गया उसको आपने ये नहीं समझाई परमात्मा ही इस रूप से है ये जो अविद्या है अविद्या क्षेत्र पुत्र शाम अविद्या ही कारण है राग द्वेषादि का और वो अविद्या ईश्वर में ना होने के कारण से राग द्वेषादि ये बात सिद्ध करने के लिए अगला सूत्र आरंभ करते हैं वहां अविद्या नहीं है इसका निष्कर्ष देना है तत्र सर्वज्ञ बीजम तस्वीन ईश्वरे निरतिशय सर्वज्ञ बीजम भवदी उस ईश्वर में सर्वज्ञ का बीज की निर्दिशयता है यहां भी लोग सर्वज्ञ बोल रहा है एक कवि हुआ दक्षिण भारत में अपना नाम ही सर्वज्ञ लिखता था उसने जितना पति लिखा है सब लिखा अंत में कहता ऐसा मैं सर्वज्ञ बोल रहा हूं ऐसा बोला बहुत पति है उसके हजारों की संख्या में और कई लोग तो मॉडर्न बना दे उसमें अंत में जोड़ देते मैं सर्वज्ञ बोल रहा हूं लेकिन कॉफी के बारे में बनाया कॉफी चालीसा कॉफी होती ना कॉफी पीते हैं जो कॉफी चालीसा बनाया और कॉफी चालीसा में सब पदों में अंतर सर्वज्ञ शब्द जोड़ लोग भविष्य में सौ साल बाद लोग समझेंगे ये भी उसने बनाया होगा कोई कभी जो रहा लेकिन इस तरह से यहां भी अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले बहुत है कहते भी है जब गुस्सा वुस्सा हो जाते हैं आप बोलते नहीं है अरे मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में देखाओ तेरे जैसे सैकड़ों को बोलते हैं डांटते वक्त मैं अपने आप को तो सर्वज्ञ मान रहा है ना मैं आपका हर साल तो पूरा जानता हूँ तो मतलब क्या मैं सर्वज्ञ हूँ ये कह रहा है तो जब गुस्सा में कह रहा है तो जैसे भी है लेकिन सर्वज्ञ व्यवहार में भी तारतम्यतापूर्वक सैकड़ों है अलग अलग विषय के अपने आप को मानने वाले बहुत इसलिए सर्वज्ञों में भी सर्वज्ञ का बीज क्या है आप किसी व्यक्ति को विद्वान मानते हैं या सर्वज्ञ मानने लगेंगे तो उसका बीज क्या है नहीं उसका बीज यह है आप ये मान ले रहे हैं मुझसे इनके अंदर ज्यादा ज्ञान या हम सब से इनमें ज्यादा ज्ञान है इसलिए हमारे सर्वज्ञ हमारे दृष्टि में ये सर्वज्ञ तो किसी में भी सर्वज्ञत्व का मानने में बीज जो कारण यही है कि जो मानने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा से उस व्यक्ति में उत्कृष्ट ज्ञान है यही इसकी भी तारतम्यता जैसे मूढ़ लोग होते हैं उनके भी गुरु है नहीं है क्या और मूढ़ों के गुरु कितना बड़ा ज्ञानी होगा आप सोच लो है ना अब दीवानों का भी गुरु होते हैं विद्वान लोग भी अपने गुरु किसको मान रहे कि नहीं मान रहे इसलिए आगे सूत्र पूर्वेश में गुरु काले न विच्छेदा जितने गुरु लोग हो रखे हैं उनके भी गुरु है और आगे जो होने वाले हैं उनका भी गुरु ईश्वर है सकल का गुरु गुरुओं का गुरु है टीका भी गुरु नाम गुरु कहा दिया गया टीका को उसका तात्पर्य नहीं है ना टीका ही असली गुरु हो जाएगा इसे गुरुत्व में सर्वज्ञत्व में भी आप तारकविता देखते हैं उस तारतम्यता का निर्विषय क्या पहुंचा वो सर्वज्ञत्व ईश्वर में निर्दिशम सर्वज्ञ बीजम यदि यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहण अल्पम बहु सर्वज्ञ बीजम क्या ये सर्वज्ञ का बीज आप दुनिया में देखते हैं ऐसा लोग हैं जो इदम अतीत अनागत अतीत को भी जानते हैं ऐसे लोग तो अतीतों को याद रखने वाले तो होते ही है बहुत सारे है ना लेकिन अनागत को भी जो है जान लेने वाले विशेष तो है इसे अतीत अनाग प्रत्युत्पन्न और वर्तमान अतीत अनागत मान भविष्य और वर्तमान इनमें से प्रत्येक का इष्टिया समष्टि प्रत्येक का भी ज्ञान हो और समूह रूपया दृष्टिया भी ज्ञान अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु प्रत्येक भी हुआ समुच्चय भी हुआ और अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी ज्ञान प्रत्येक का ज्ञान होना समूह का ज्ञान होना और अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी ज्ञान ग्रहण कर लेना ऐसे जानने वालों में कुछ लोग थोड़ा है किसी जीव में ज्यादा है अल्पम बहु यही सर्वज्ञ का बीज है अधिक अतिद्रिक ज्ञान देखा जाता है वही सर्वज्ञता का बीज है अर्थात सार्वज्ञ का अनुमापक एक एक कक्षा के अंदर जब परीक्षा हो जाता है मार्क्स दिए जाते शून्य से लेकर के सौ तक आजकल ऐसी परीक्षा है शून्य से भी नीचे माइनस से शुरू होता है हाँ, माइनस पांच सौ माइनस छह सौ माइनस हजार भी मिलते कईयों को माइनस हजार से लेकर जो है प्लस सौ तक जहां तक हो तो उतना नहीं होता वहां आगे नहीं बढ़ेगा प्लस दो सौ तीन सौ नहीं हो जाता इतनी मार्क्स दी गई प्लस सौ वही तक जाए लेकिन कटाई में आप एक गलती करोगे इतना कटेगा इतने गलती कटते कटते कटते कटते वो शून्य से नीचे चला जाता है माइनस में परीक्षाएं रहती है रिजल्ट निकलता है तो खैर यहाँ के तारतम्य तो देख रहे हैं एक ही कक्षा के अंदर सभी एक ही विषय को पढ़े हैं एक ही प्रश्न पत्र सबको दिया गया है फिर भी इनकी सर्वज्ञता में उनकी तद विषय संपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता तो में एक विषय का सर्व का ज्ञान उस विषय संबंधी सकल तत्वों का ज्ञान सर्वज्ञता है तार सर्वज्ञता में तारतम्यता भी एक कक्षा में देखते हो फिर सारे संसार के विषय के बारे में तो कहना ही क्या कार्यक्रम तब निश्चित रूपेण है इसलिए कहते हैं ये तक भी वर्धमान अब ये बढ़ता है कोई पचास का है कोई साठ का है कोई सत्तर का है कोई अस्सी का कोई नब्बे कोई इक्यानवे कोई बयानवे कोई निन्यानवे तक तो पा लेते ना कोई कोई तो लेकिन इसकी निरुद्देशता कहा वृद्धि को प्राप्त होते होते होते होते वर्धमानम यत्न निर्देश जहां उस निर्देश्यता हो जाए उससे आगे एक अंश में भी अधिक या समान कोई दूसरा न रह जाए सर्व ऐसा भी होता है क्या क्यों नहीं होगा अस्थि चकाष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज से सात शक्ता परिमाण होते अनुमान कर अस्थि काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज से काष्ठा प्राप्ति रस्ती क्यों सादृश्य क्योंकि जो जो साक्षी हुआ करता है उसका कोई न कोई अंत निरतिशय वस्तु मानना ही होगा दृष्टान क्या है परिमाण जैसा अणु परिमाण शुरू करते हैं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते एक ऐसा परिमाण आपने माना जिसको कद उससे आगे कुछ उसका नाम रखा आपने परम मात परिमाण संख्या में इसी प्रकार से शुरू किया शून्य से एक दो तीन करते करते करते कहा तक जाओगे मतलब परार्ध नाम की संख्या उससे आगे और संख्या नहीं हो सकती उसी प्रकार से यहाँ सर्वज्ञता में भी तारतम्यता करते करते सातिशय होने के नाते सर्वानुभव सिद्ध सातिशयता अतः इसकी निर्देश पराकाष्ठा माननी होगी उसी पराकाष्ठा का नाम यत्र काष्ट प्राप्ति ज्ञान से जैसे पूर्व सूत्र में आपने देखा जहां काष्ठा प्राप्ति हुई थी ऐश्वर्य का वो ईश्वर उसी प्रकार ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति जहां हो जाए वही वास्तविक सर्वज्ञ है वही ईश्वर है सहज पुरुष विशेष वह और कोई नहीं पुरुष विशेष ईश्वरी हो सकता है सामान्य मात्र उपसंहारे कृतोपक्षम अनुमानम न विशेष प्रतिबद्ध समर्थन तस संज्ञा विशेष प्रतिबद्ध आगत पर प्रश्न उठता है कि उस ईश्वर का नाम तो बताओ कुछ होगा उसका एड्रेस वेड्रेस कहीं खबर दो ताकि पकड़े हम उसके पास कहते हैं देखो शास्त्र रूपी हेतु से या अनुमान से जिसको सिद्ध करोगे ना वह सिद्ध वस्तु हमेशा सामान्य बोल देता है जैसे आपने अनुमान के लिए परो तो वनिमान दो मान मान सो ठीक है आपसे पूछूंगा जी अनुमान तो कर लिया आपने धुआं दी का जरूर अग्नि है लेकिन ये बताओ वो चंदन की लकड़ी जल की अग्नि है ये कौन सी अग्नि विशेष बता सकते हो नहीं आप धूम को लेकर अग्नि सामान्य की सिद्धि कर सकते हैं लेकिन उस अग्नि का विशेष स्वरूप कर सकते अनुमान से कोई नहीं कर सकता आजकल मोबाइल का जमाना है मोबाइल से फोन करो पूछो वहां पर वो बताएगा कि सागवन की लकड़ी चल रही है कि कौन सी लकड़ी वो जो वहां प्रत्यक्ष है विशेष की सिद्धि आप अनुमान से कभी नहीं कर सकते अनुमान से सदा ही क्या होता है कहते सामान्य मात्र उपसंहार है कृत उपक्षय अनुमान अनुमान वही क्षीण हो जाता है अनुमान की सीमा केवल सामान्य स्वरूप की सिद्धि में है विशेष स्वरूप की सिद्धि में अनुमान का कोई सामर्थ्य नहीं है कृतोपक्ष अनुमान कस्मिन कार्य सामान्य मात्र उपसंहारे सामान्य स्वरूप मात्र का निर्णय करते करते क्षीण हो जाता है अनुमान का सामर्थ्य न विशेष प्रतिपत्तो सामर्थ्यम विशेष प्रतिपत्ति में अनुमान का कोई सामर्थ्य नहीं है फिर कैसे मालूम होगा ईश्वर के बारे में विशेष इस ईश्वर के स्वरूप विशेष का बोध कैसे शंख चक्र गदाधारी है कि त्रिशूलधारी है कि क्या है ये कौन है कहाँ रहता है कैसा है ये सब हमें कैसे जानेंगे ईश्वर तो हमें है बोल दिया सिद्ध है है तो सही सर्वज्ञ भी मान लूंगा उसको सर्वेश्वरी मान भी मान लूंगा लेकिन बताओ तो कहाँ है कैसा है वो कहते तो उसको पढ़ लेना पुराणों उपनिषदों को अन्य शास्त्रों में वर्णन मिलेगा संज्ञा विशेष प्रतिपत्ति आगमत परिदेश संज्ञादि विशेष का चाहे विष्णु सहस्रनाम बन लो चाहे शिव सहस्रनाम नहीं इसमें भगवान के हजारों नाम मिल जाएंगे उनके नाम जानना चाहते हो तो पढ़ लेना ग्रंथों और ये आदमी हुलिया जानते हो तो बहुत सारे ग्रंथ है पुराण वगैरह बताते हैं ना वो कोई वैकुंठ में है कोई कैलाश में है कोई ब्रह्मलोक है वहां रहता है कोई चार मुख वाला है कोई दो मुख वाला कोई एक मुख वाला जो जैसा वर्णन है वो सब आप जो है आगम प्रमाण से शब्द प्रमाण से आपको अन्वेषण कर लेनी चाहिए परियन्वेष्य अच्छा ठीक है आगम प्रमाण मैंने अर्थात जो है पुराणों से जानना पड़ता है पुराणों में क्या कहा गया उसके बारे में तो वो भी बता रहे थे मूल में नहीं हम बता रहे अलग से पुराण का श्लोक सर्वज्ञाता तृप्ति अनादिकोद स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति ही अनंत शक्ति विभो विधिध्या षडाउरंगा महेश्वर से वायु पुराण के श्लोक में साफ लिख रहे हैं सर्वज्ञता तृप्ति अनादिबोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति नित्य सर्वज्ञता है तारतम्य कृत नैमित्तिक सर्वज्ञता नहीं है ऐसा इस लोक में होता है नित्यम सबके साथ जुड़ेगा नित्य सर्वज्ञता नित्य तृप्ति नित्य अनादि बोध है नित्य स्वातंत्रता है नित्य अलुप्त शक्ति इन अलुप्त शक्ति भी थोड़ा सा है ऐसी बात नहीं अनंत शक्ति विभव और सकल विधिज्ञा और सकल विधियों का ज्ञाता भी ये छह लक्षणों वाला वह महेश्वर का ये छह लक्षण होते हैं ऐसे भी वायु पुराण में कहा वही पुराण में अन्य पुराणों में भी है लेकिन मुख्य वायु पुराण ले रहे हैं लोग तो ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्य तप सत्यम क्षमा धृति सृष्टित्व आत्मसंबोधो यधिष्ठातृत्व अव्ययानी दशहितानी नित्यम तिष्ठन्ति शंकरे ये दस तत्व है जो नित्य ही अव्यय रूपेण इनका जितना भी प्रयोग करे तो खाली नहीं होता है व्यय नहीं होता अव्ययान कृषयतानी नित्यम शंकर नित्य शंकर में रहता है कौन कौन चीज ज्ञान वैराग ऐश्वर्य तप सत्य क्षमा धृति सृष्टित्व आत्मज्ञान और अधिष्ठान इतनी चीजें जो है दस तत्व उनके पास होता है इत्यादि संज्ञा विशेष प्रतिपत्तियों को हमें पुराण अन्य शब्द प्रमाणों से जान लेना चाहिए तस्यात्मानुग्रहाभावे भी बुधानुग्रह प्रयोजन वो ईश्वर क्यों कर रहा है जब उसमें कोई दोष नहीं है सकल ईश्वर है सकल कुछ है तो करता क्यों है वो है? क्यों ईश्वर बना है सृष्टि को बना रहा है क्यों अवतार लेते रहता है परेशान हो जाता है क्या जरूरत है करने को यद्यपि उसने अपना उनका कोई लाभ नहीं तस्य आत्मानुग्रह अभाव अपने उसका कोई अनुग्रह करने की अपेक्षा लाभ नहीं है फिर भी भूतानुग्रह ये जीवों पर अनुग्रह करना ही उनका प्रयोजन उनके सृष्टि निर्माण करना उनकी सृष्टि के अंदर होने विषमताओं को समाधान कर अवतार लेना ये सारी चीजें चाहे वंशावतार हो चाहे स्फूर्ति अवतार हो किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार के अवतार होता है भगवान लेकिन सब कुछ भूतों पर वो नहीं मर के जो भूत हो सकल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भूतानुग्रह सकल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वो भी कैसे करते हैं अनुग्रह ज्ञान धर्मोपदेश कल्प प्रलय महाप्रलय संसार पुरुषान पुरुषान उद्धरिष्याम उसके एक ही संकल्प होता है ज्ञानोपदेश के द्वारा और धर्मोपदेश के द्वारा प्रत्येक कल्प के आदि में प्रलय में और महाप्रलय कालों में इन संसारियों को संसारी पुरुषों को मैं उद्धार करूंगा इस भावना से ही वो सकल क्रियाकलाप करते हैं तथा चौथम इस विषय पंचशिकाचार्य कहते भी हैं आद विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्या भगवान परमर्षित आसुरे जिज्ञासमानाय तंत्र प्रोवाच आदि विद्यमान आदि विद्वान कौन है हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रह सकल दर्शनों का सकल शास्त्रों का आदि विद्वान हिरण्य गर्भ होता है इसलिए योग का हो चाहे किसी भी दर्शन का हो प्रथम प्रवक्ता हिरण्य गर्भ और वही तत्त कालों में अनेक दर्शनों के भी, प्रवक्ता में आ गए तो कपिल भी हुई है इसलिए आज विद्वान शब्द से प्राथम्य दृष्टिया हिरण्य स्व एक दृष्टा दर्शन मात्र दृष्टिया तो कपिल आदि विद्वान जो कपिल हिरण गर्भ अथवा हिरण गर्भ है वह निर्माण चित्तम अधिष्ठा निर्माण चित्तम अधिष्ठा एक ऐसा पहले संकल्प से एक चित्त को निर्माण कर लेते हैं कल्पित महाभूतों से सबसे पहले क्या उन्होंने महातत्व पैदा और महातत्व वृष्टि है वृष्टि महातत्व रूपी चित्त का नाम निर्माण चित्त उसी को अधिष्ठित करके वे क्या किए कारुण्य होने वाले समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव से भगवान ने परम ऋषि का पिला आस जो द्वितीयोत्पन्न है जीवात्मा आसुरी उनके लिए जो कि कैसे हैं वो भी जिज्ञास मानाय ज्ञान की इच्छुक आसुरी के लिए उन्होंने तंत्र मैंने इदम शास्त्र प्रोवाच समस्त शास्त्र का सांख्य शास्त्र का उन्होंने कथन किया था इत्यादि भी जो है प्रमाण मिलता है इसलिए वह ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीर आदि को धारण करता भी है और उसके तरह क्रियाकलाप करता है वह केवल जीवों पर अनुग्रह करने के लिए है उसमें उनका अपना कोई न स्वार्थ है न कुछ और ये सारी बातें जो कही ज्ञान क्रिया शक्ति से शास्त्र शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही हुआ ना शास्त्र प्रमाण के आधार पर कर रहे हैं इन शास्त्र प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तुओं में युक्ति रूपी अनुमान भी इन्होंने हेतु के रूप प्रस्तुत किया सनिरक्षम सर्वज्ञ बीजम इत्यादि अच्छा इस प्रकार ईश्वर का स्वरूप तो सिद्ध हो गया लेकिन ईश्वर के स्वरूप सिद्ध होने मात्र से काम चलता नहीं ना कि पराकाष्ठा की सिद्धि किए बिना ईश्वर का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा और पराकाष्ठा के है भी कोई तत्व तो इस बात के लिए आप श्रुति को लेते हो श्रुति मैंने एक जगह इंद्रिय परायर्थार्थ परम मनसस्तो पराबुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषार्थ परम किंचित सा काष्ठा सा परागति कठोपरिषद में है अन्यत्र विस्तर ज्ञात है गीता जी में भी कहा है ना और गीता ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ प्रश्न एक और मन में शंका होता है इसकी इस भाषण इस सूत्र का भाषण अंत में आपने आदि विद्वान कपिल करके ले करके सांख्य शास्त्र को ले लिया अरे योग शास्त्र का मामला चल रहा है कि सांख्य का चल रहा है अब सांख्य आचार्य को आपने कैसे उद्धत कर दिया बीच में तब उस गीता को लाना सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक सांख्य योग यह पश्यति स पश्यति इसे दोनों शास्त्र एक तो विशेष में अंतर क्या है सांख्य शास्त्र में थ्योरी जाता है ना सिद्धांत पक्ष जाता है और योग में केवल सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है बल्कि सिद्धांत को गौर किया है प्राधान्य दिया है क्रिया को प्रयोग अच्छे सांख्य योग का अधिकतर लोग एक दूसरे का पूरक भी मानते सिद्धांत और प्रयोग दोनों को लिए हुए बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं सकता ये मान्यता है यहां इसलिए और अन्य वेदांत आदि ने भी कहा दिया है बिना प्रयोग का जो है वेदांत के अधिकारी ही नहीं बन सकते तो वेदांत में सफल कहां से होगा ज्ञान को पचाने के उन्होंने पहले कह दिया यज्ञ दान तपसा सके ना श्रुतियां साफ कह रहे हैं ये सारी चीजों की जरूरत है और स्मृतियों में जो साफ योग के बिना तो आत्मदर्शन होता ही नहीं अगर केवल ज्ञान से वह शुष्क ज्ञान ही रह जाता है जब तक योग को अपना करके व्यक्ति अंतकरण शुद्धि को नहीं अंतकरण शुद्धि के लिए अति आवश्यक वस्तु ये सारी चीजें और सकल शास्त्र जितने भी वेदांत शास्त्र कहते हो उन गीता को देख लो परिषदों को देख लो सभी में क्या कहते हैं तीनों चीज लाता है कर्म भी करो उपासना भी करो ज्ञान तीनों की जरूरत कर्म करने का मतलब एक तरह से खेती में हल करना हल लगाना और भक्ति की उपासना मतलब वहां पर जल देना और ज्ञान हो गया बीज जो मोक्ष में फसल को काटता है इसे अंत रूपी खेती में निष्काम कर्म योग अपेक्षा कर्म अन्यवाधिकार से माँ फलेश गीता ताला ने बोल दिया फिर अन्य अचिंत माम भक्ति को लाया अंत में ज्ञान लगती है तो ज्ञान के आदत पर अभेद मानता हुआ सब जो शरणागत हो जाता है अहम तो असर पापे भी मोक्ष आप पूर्वोत्तर देखेंगे इस तरह से परिषदों में भी आप देखते हैं सभी जगह श्रुति स्मृति में इन तीनों को सिर्फ महत्व दिया गया है और तीनों में साथ एक को लेकर चलते हैं तो व्यक्ति अधूरा है वह कभी सफल हो नहीं सकता और आज हो यही रहा यह तो भक्ति में तो आज भक्ति ही होगा तो ज्ञान को जरूरत नहीं राम राम राम कर दे जाओ ये पच्चीस मारो पचास मारो कोई सौ मारे लगा हुआ दिन रात खराब और कोई तो कर्मियों में लगा वो कर्मियों वो में ही लगा हुआ है उनको तो कुछ भी बूझ ही नहीं होती और बहुत सारे तो पाखंडी बड़े ज्ञानी बनते हैं श्रोत्र वर्ण टाइटल लगाते हैं फिर तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान लगे हुए हैं न कर्म है उनका न भक्ति है न कुछ अंत मन शुद्ध हुआ ही नहीं केवल बौद्धिक स्तर पर ज्ञान लिए नाच रहे हैं तो भी सफल नहीं होते इसीलिए वो भी चाल में फंस जाते इसे तीनों को अपनाना चाहिए इसी को संकेत में दिया शांति वो पृथक बाला पंडित प्रवदंती न पंडिता इसी बात को संकेत करने के लिए जान कर इस सूत्र में भाष्यकार ने योग सूत्र के भाषित व्यास शांति की परंपरा को कपिल पंच शिकायत और आसुरी की कथा कर उनमें सांख्य परंपरा है उनको यहाँ जोड़ दिया है यह ज्ञापित करने के लिए इनको आप बिल्कुल अलग करने के प्रयास न करें निष्काम योग निष्काम योग में तो बहुत कुछ है स्वकर्मात्मक सिद्धि विंदती स्वयं भगवान ने गीता में कहा है आप अपना कर्म क्या आप तय कर लीजिए ना कहें कि आप ब्रह्मचारी हैं कि ग्रस्त हैं कि वहां हैं की सन्यासी है ये पहले आप तय कर लो फिर उसे भी तय करो आप ब्रह्मचारी उसमें भी आप ब्राह्मण के छत्र के वैश्य शूत्र उसके अनुसार श्रुति स्मृति में जो कर्म बताए गए उन कर्मों को कीजिए वो तो हो गया शास्त्रीय कर्मकांड उससे अतिरिक्त कर्म क्या है जो जहां की जिस अवस्था में आप रह रहे हैं आपके अपना जो कर्तव्य क्या है जिस आश्रम में रह रहे हो उस आश्रम के प्रति आपका कर्तव्य क्या है जिस घर में रह रहे हो तो घर में आपके कर्तव्य क्या है अपने भाई बंधु गुरु भाई या तो गुरु भाई भाषा बोलते हैं गुरु भाई गुरु बहन तो चाहे जहां भी आप है तो आपके अपने कुछ कर्तव्य निश्चित है उन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए और समाज के प्रति आपका कर्तव्य है देश के प्रति आपका कर्तव्य है उन कर्तव्यों में समय पालन करनी चाहिए लेकिन उस कर्तव्य पालन करने का पीछे कोई कामना नहीं होना ही निश्चित चाहे शास्त्र इस प्रकार के कर्म हो अथवा नैतिक कर्म कहते नैतिक आप ये नैतिक जीवन